अभी थोड़ी देर पहले ही विक्रांत को इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल साजिद को पकड़ने के लिए नहीं किया था लेकिन जब उसने साजिद के हाथ में गन देखा तब उसे अचानक से अपनी गायब होने वाली शक्ति की याद आ गई विक्रांत की अदृश्य शक्ति ने उसे गायब होने का टूल दिया हुआ था जिसकी मदद से वो कुछ देर के लिए गायब हो सकता था विक्रांत ने उस टूल की मदद से खुद को अदृश्य कर लिया था तभी साजिद को सिर्फ चलती हुई साइकिल ही नजर आ रही थी हालांकि विक्रांत ने अपना ये टूल इस्तेमाल करने में थोड़ी देर कर दी थी क्योंकि गायब होने से पहले ही साजिद ने उसके ऊपर एक फायर कर दिया था जिससे एक गोली विक्रांत के कंधे पर लग गई थी जब विक्रांत अदृश्य होकर साजिद के पास पहुंचा तो वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने साइकिल को उठाकर साजिद के ऊपर पटक डाला साथ ही उसने साजिद से गोली चलाने का बदला लेने के लिए उसकी जांगों पर बंदूक टिकाकर गोली भी चला दी थी विक्रांत के दायने हाथ के कंधे पर गोली लगी थी इस वजह से उसने साजिद को गोली मारते हुए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था गोली साजिद की जांग में समा गई थी जिससे उसका मांस भी बाहर आ गया था दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगा विक्रांत भी अब तक काफी घायल हो चुका था गोली की आवाज सुनकर वहां सबसे पहले देव पहुंचा हालांकि उसके पैर में गोली लगी हुई थी फिर भी वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंच गया था पहले तो उसे लगा कि साजिद ने विक्रांत पर भी गोली चला दी लेकिन जब उसने देखा कि विक्रांत वहां सही सलामत खड़ा है तब जाकर उसने राहत की सांस ली वहां पहुंचते ही उसने एक जोर की लात साजिद के मुंह पर मार दी आ आ साजिद फिर से चीख पड़ा अब तक वो जो थोड़ा बहुत होश में था वो भी खत्म हो चुका था देव के लात का प्रहार पड़ते ही साजिद बेहोश हो गया फिर देव ने हथकड़ी निकालकर उसके दोनों हाथों को आपस में बांध दिया और अपने अन्य साथियों के आने का इंतजार करने लगा वाह विक्रांत सर आपने तो कमाल कर दिया एक ही गोली में साले को चित कर दिया निशाना बड़ा अच्छा है आपका विक्रांत उसे बताना चाहता था कि उसने साजिद पर निशाना लगाकर गोली नहीं चलाई है बल्कि उसके बगल में बैठकर जानबूझकर अपना बदला लेने के लिए उसके पैर में गोली दागी है लेकिन तब तक सामने से अमित और सुदेश वगैरह भी आते दिख गए आते ही वो लोग विक्रांत और देव से उनका हाल पूछने लग गए देव ने उन लोगों को सारी बातें विस्तार से बताई लगभग दस पंद्रह मिनट तक वो लोग वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे तब जाकर वहां पुष्कर द्वारा भेजी गई पुलिस टीम पहुंच गई पहले तो उन्हें लगा था कि सिर्फ एक ही आदमी घायल होगा इसीलिए पुलिस टीम के साथ सिर्फ एक एम्बुलेंस ही आई थी लेकिन बाद में पुलिस को पता चला कि विक्रांत ने वहां चौल के पास भी दर्जन भर लोगों को घायल करके गिराया है और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि वो लोग इलीगल धंधे करने वाले अपराधी थे वो सभी साजिद और खालिद के इलीगल ड्रग्स सप्लाई के काम में हाथ बटाते हैं पुलिस ने फौरन ही कई सारे एम्बुलेंस बुलवाए और वहां चौल के पास जितने भी घायल पड़े थे सभी को उठाकर ले गई साजिद को पकड़े हुए एक घंटे से ज्यादा समय हो चुका था इस वक्त विक्रांत ऑफिस के भीतर अपने केबिन के पास बैठा हुआ था उसके ठीक बगल में संगीता खड़ी थी और उन्होंने स्पेशली फॉरेंसिक टीम से गीता को विक्रांत की ड्रेसिंग करने के लिए बुलवाया था विक्रांत के कंधे में गोली लगने की वजह से घाव था साथ ही उसके सिर में भी काफी चोट लगी थी वहाँ चौल के भीतर गुंडों से भिड़ते वक्त किसी ने उसके माथे पर पत्थर से वार किया था जिस वजह से विक्रांत का काफी खून बह चुका था गीता ने तो विक्रांत को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करने की कोशिश भी की थी लेकिन विक्रांत हॉस्पिटल जाने के लिए राजी नहीं हुआ मजबूरन गीता को यहीं ऑफिस में बैठकर उसकी पट्टी करनी पड़ रही थी आ, आ, आराम से मैं जिंदा हूँ अभी लाश नहीं हूँ विक्रांत दर्द से करा उठा गीता इस वक्त विक्रांत के कंधे पर मलहम लगाए जा रही थी नहीं आराम से नहीं होगा आराम से हो गया तो फिर जल्दी ठीक नहीं होंगे मैंने तो तुमसे पहले ही हॉस्पिटल चलने के लिए कहा था लेकिन तुम माने नहीं गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कोई जरूरत नहीं हॉस्पिटल जाने की कुछ भी नहीं हुआ मुझे आह विक्रांत ने जवाब दिया ठीक है फिर कुछ नहीं हुआ तो हिलो मत वरना और दर्द होगा गीता ने विक्रांत के हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहा इस वक्त संगीता बिल्कुल बगल में ही खड़ी थी वो अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़ी थी और विक्रांत को बड़े ध्यान से देख रही थी आप ऐसे क्यों देख रही हैं मैडम अच्छा साजिद का कुछ पता चला इंटेरोगेशन चल रहा है उसका विक्रांत ने संगीता की तरफ देखते हुए कहा चुप रहो तुम ज्यादा हीरो मत बनो संगीता ने विक्रांत का मुंह बंद करते हुए कहा जो तुमने किया है ना वो कोई तरीका नहीं है काम करने का पूरे डिपार्टमेंट में हल्ला हो रखा है तुमने जो तरीका साजिद को पकड़ने के लिए अपनाया है ना अभी संगीता की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसने देखा सामने से टीम बी के ऑफिसर देव सिंह कई लोगों के साथ ऑफिस के भीतर चले आ रहे थे इस वक्त देव को इतने लोगों के साथ यहाँ आते देख संगीता को थोड़ा अजीब लगा गीता भी विक्रांत की पट्टी छोड़कर उनकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगी विक्रांत को लगा शायद फिर से कुछ हुआ है इस वजह से ही देव यहाँ इतने लोगों के साथ आया हुआ है वो सभी लोग आकर विक्रांत के ठीक सामने खड़े हो गए विक्रांत कुछ कहने वाला था तभी सबने एक साथ सावधान होकर विक्रांत को सैल्यूट किया विक्रांत सर आज आपने जो किया उसके लिए टीम बी की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे अगर आप ना होते तो शायद हम मंजू मैडम के कातिल को कभी पकड़ नहीं पाते इतना कहते कहते देव की आंखें भर आई उसकी आवाज रुआसी सी हो गई संगीता के साथ ही गीता भी टीम बी को इस तरह से विक्रांत का सम्मान करते हुए देख दंग रह गई विक्रांत सर एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर ने बोलना शुरू किया सच कहें तो हम टीम बी के सभी इन्वेस्टिगेटर आपको कभी पसंद नहीं करते थे हमेशा आपको खुद के कम्पिटिटर के तौर पे देखते थे लेकिन सर आज से हमारे दिल में आपके सिर्फ सिर्फ रिस्पेक्ट है सम्मान है सर आपने आज न सिर्फ हमारी टीम का मान रखा है बल्कि पूरे पनवेल पुलिस ब्रांच का सिर ऊंचा कर दिया इसके लिए आपको जितनी इज्जत दी जाए कम है सर भले ही आज तक आपसे द्वेष रखते आए हैं लेकिन आज से और अब से आप हमारे बॉस की तरह हैं आपको कभी भी कहीं भी हमारी जरूरत पड़े तो बस आपको एक आवाज देने की जरूरत है हमारी पूरी टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी टीम बी के ही एक और इन्वेस्टिगेटर ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा इस वक्त टीम बी के सभी इन्वेस्टिगेटर काफी भावुक नजर आ रहे थे सभी के दिल में विक्रांत के लिए खास जगह बन चुकी थी हे हे अरे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है मंजू मैडम मेरी भी दोस्त थी उनके जैसा ऑफिसर अब शायद ही पुलिस डिपार्टमेंट को कभी मिलेगा उसके कातिल को पकड़ना मेरा फर्ज था मेरी ड्यूटी थी मैंने कोई एहसान नहीं किया है बस अपनी ड्यूटी निभाई है विक्रांत भी थोड़ा भावुक हो गया था अच्छा ये सब छोड़ो ये बताओ इंटेरोगेशन कैसी चल रही है साजिद ने क्या बताया तुम उसकी चिंता छोड़ो पहले अपनी पट्टी पूरी करवाओ समझे संगीता ने बीच में ही विक्रांत को चुप कराते हुए कहा यह देख गीता फिर से विक्रांत के कंधे पर टांका लगाने लग गई टीम हेड पुष्कर सर और चेतन सर दोनों मिलकर उसे इंटेरोगेट कर रहे हैं अमित ने संगीता की बात को नजरअंदाज करते हुए विक्रांत को बताया अभी इंटेरोगेशन चल ही रही है मैंने बस सुना है कि साजिद कह रहा था कि उस रात उसने काफी नशा किया हुआ था और उसे कुछ याद नहीं है वो बोल रहा है कि मैंने ड्रग्स भी लिया हुआ था इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है कैसे याद नहीं है साले को अभी बताता हूँ सब याद कराता हूँ उसे अभी विक्रांत भड़क उठा वो इतने ज्यादा जोश में था कि अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया अचानक उठकर खड़े होने से उसका टांका भी खुल गया और माथे से फिर से खून की धार बहनी शुरू हो गई